ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ने हमसे ये वादा लिया है कि किसी पैगंबर पर उस वक्त तक ईमान न लाएं जब तक वो हमारे पास ऐसी कुर्बानी लेकर ना आए जिसे आग खा जाए तुम कहो कि मुझसे पहले तुम्हारे पास बहुत से पैगंबर खुली निशानियां भी लेकर आए और वो चीज भी जिसके बारे में तुमने मुझसे कहा है फिर तुमने उन्हें क्यों कत्ल किया अगर तुम वाकई सच्चे हो